और हक को बातिल के साथ गडमट न करो और ना हक बात को छुपाओ जबकि असल हकीकत तुम अच्छी तरह जानते हो